मेरी आवाज ठीक सुन पा रहे हैं <coughs> ध्वनि कम ध्यान विधि की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं आप ध्वनि ठीक है परम पिता परमात्मा का स्मरण करें ओ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी महानुभाव ध्यान की विधि क्या हो ध्यान में उपासना में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होती हैं ये इस कक्षा का मुख्य विषय है आज प्रारंभ में थोड़ी चर्चा ध्यान और उपासना के बारे में ध्यान कहते किसे हैं ध्यान क्या होता है उपासना किसे कहते हैं उपासना क्या होती है ध्यान के बारे में आजकल बहुत कुछ सिखाया जाता है बताया जाता है और उसकी अलग अलग विधियां अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलती हैं जिज्ञासु व्यक्ति ध्यान लगाने की इच्छा वाला बहुत स्थानों पर जाता है उन प्रक्रियाओं को देखता है अभ्यास करता है किन्हीं को कुछ अच्छा लगता है किन्हीं को कुछ अच्छा लगता है कुछ प्रक्रियाएं कुछ दिन कुछ महीने अच्छी लगती हैं रुचि बनती है और उसको करते हुए भी जिस आध्यात्मिक प्रगति की कामना लेके वो ध्यान में प्रविष्ट हुआ था ध्यान करने लगा था अनेक बार वो पूरी नहीं हो पाती है वो समय भी लगाता है पूरी इच्छा शक्ति से करता है कुछ लाभ भी होता है ध्यान हमें कहां तक पहुंचाता है कहां तक पहुंचा सकता है ध्यान किया किस लिए जाता है ये सब बातें अच्छी तरह साधक को समझ लेनी चाहिए ध्यान क्या एकाग्रता का नाम है संसार में रहते हुए विभिन्न ऊंची नीची परिस्थितियों में विभिन्न संघर्षों में बाधाओं में जीते हुए अत्यधिक व्यस्तताओं के कारण और परिस्थितियों को न समझ करके उसमें उलझते जाने के कारण व्यक्ति तनाव से युक्त होता है उसमें अनियंत्रित रूप से विचार आने लगते हैं जो कि उसकी समस्या का कारण बन जाते हैं वो सोचता है कि ये विचार कैसे रुकें एकाग्रता कैसे हो क्योंकि चंचलता में विचारों के प्रवाह में वो अशांति अनुभव कर रहा है इसलिए एकाग्रता में उसे शांति की पूर्ति होती दिखाई देती है वो सोचता है कि कुछ एकाग्रता बनेगी तो शांति आएगी जीवन में कुछ सुख आएगा केवल एकाग्रता के लिए सुख शांति के लिए ध्यान करने के और पढ़ता है ऐसे में उसके मन में ध्यान अर्थात एकाग्रता यही रहता है और जब वो विभिन्न पद्धतियों को देखता है तो वहां केवल एक बात देखता है कि किस ध्यान पद्धति में किस शैली में एकाग्रता बन रही है एकाग्रता के कारण बहुत से होते हैं एकाग्रता का मतलब है एक ही विषय बना रहना एकाग्रता तो सांसारिक विषयों में भी होती है एकाग्रता संगीत में भी होती है एकाग्रता विभिन्न कलाओं में भी होती है और जो संसार से परेशान है वो इतना ही लक्ष्य बना करके ध्यान में प्रवृत्त होता है थोड़ी एकाग्रता उसकी बनती है थोड़ी शांति आती है और उसे प्रतीत होता है कि मैं जीवन जीने लायक कुछ बन गया हूं मेरी कुछ समस्याएं कम हो गई हैं सांसारिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से लौकिक दृष्टि से ये लक्ष्य ठीक है और इसमें विभिन्न ध्यान पद्धतियों से सफलता भी मिलती है लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य मात्र इतना नहीं होता कि संसार में मैं शांति से सुख से कैसे जी लू ये भी एक लक्ष्य है लेकिन बहुत छोटा लक्ष्य है ये आध्यात्मिक व्यक्ति इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होता है ऐसी शांति तो एक ठीक ठाक धार्मिक व्यक्ति में भी देखी जा सकती है बिना ध्यान किए भी जो सरलता से अपना जीवन जी रहा है धर्म पूर्वक अन्याय अत्याचार नहीं करता है और थोड़ा संतोषी है तो ऐसी सुख शांति तो उनमें भी होती है बहुत कम पढ़े लिखे सामान्य जीवन जीने वाले मजदूरी खेतीहारी करने वाले जिनके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं वो भी ऐसी सुख शांति रखता है बल्कि जो शहरी तनाव से ग्रस्त व्यक्ति ध्यान से जितनी शांति पाता है उससे अधिक शांति तो ऐसे सामान्य व्यक्तियों में भी देखी जाती है यदि यही शांति यही विचारों की चंचलता का कम होना लक्ष्य हो तो सब के लिए वो आवश्यक नहीं है वैदिक दृष्टि से शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान का लक्ष्य और प्रयोजन इससे कहीं आगे और बहुत ऊंचा है यदि हम एकाग्रता को ही ध्यान कहें तो योग के आठ अंगों की दृष्टि से पांचवा अंग प्रत्याहार भी एकाग्रता में आ जाता है उसमें भी बहुत अच्छी एकाग्रता होती है यदि प्रत्याहार किसी का सध रहा है मध्यम स्तर का भी है तो भी अच्छी एकाग्रता हो जाती है प्रत्याहार के बाद में धारणा है धारणा में भी एकाग्रता होती है ध्यान तो अभी आया ही नहीं है प्रत्याहार में एकाग्रता धारणा में एकाग्रता और ध्यान में भी एकाग्रता होती है एकाग्रता तो इन सब में समान है इसका मतलब ये है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार या वैदिक साधना पद्धति के अनुसार ध्यान एकाग्रता से बढ़कर के कुछ और है एकाग्रता चित्त की अवस्था है स्थिति है चित्त का एक स्तर है चित्त की एक भूमि है उस एकाग्रता को पा करके अब हमें कुछ करना है किसी सामान्य व्यक्ति से जिसको एकाग्रता से कुछ लेना देना ना हो उसे कहें कि आप ध्यान कीजिए एकाग्रता बनेगी तो है उसके मन में प्रश्न होगा उस एकाग्रता का करूंगा क्या मैं क्यों चाहिए वो एकाग्रता उसको कोई बाधा नहीं है जीवन में उसको कोई तीरंदाज या शूटर नहीं बन रहा है जहां बहुत एकाग्रता चाहिए उसका जीवन चलने के लिए जैसी मानसिक स्थिति आवश्यक है वो उसके पास है एकाग्रता क्यों चाहिए कोई वैज्ञानिक लेखक कलाकार कह सकता है कि नहीं मेरे को एकाग्रता चाहिए नहीं तो मैं लिख नहीं सकता कविताएं नहीं बना सकता मैं चित्रकारी नहीं कर सकता अच्छी तरह मैं संगीत की अच्छी धुने नहीं निकाल सकता मेरे को एकाग्रता चाहिए इसका क्या मतलब हुआ एकाग्रता आधार बन रही है अच्छी चित्रकारी के लिए एकाग्रता अपने आप में लक्ष्य नहीं है एकाग्र स्थिति पा करके वो लिख पा रहा है कविताएं बना पा रहा है गंभीर चिंतन कर पा रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान कर पा रहा है तो एकाग्रता आधार है भूमि है केवल एकाग्रता को पाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं इसे ही ध्यान का लक्ष्य समझते हैं तो एकाग्रता मात्र से अध्यात्म में अधिक प्रगति नहीं होगी एकाग्रता के आधार पर अब हमें क्या करना है वो ध्यान में किया जाता है जैसे सामान्य व्यक्ति एकाग्रता पाकर के चित्रकारी करता है ऐसे साधक को भी एकाग्रता में पहुंच करके मन के स्तर पर कुछ करना होता है क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति अंतकरण की शुद्धता पर निर्भर करती है कुसंस्कारों को अज्ञान को हटाना होता है और उसे हटाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है मुक्ति की प्राप्ति के लिए कुछ संस्कार आवश्यक होते हैं शुभ संस्कार वो संस्कार अपने चित्त पर डालने होते हैं पुराने संस्कारों को क्षीण करना और नए मुक्ति को दिलाने वाले संस्कारों को डालना दृढ़ करना ये कार्य करना होता है और वो हमें हमारे अंतकरण में मन में डालने होते हैं अंतकरण में भी गहराई तक डालने होते हैं ऊपर ऊपर तो बहुत सी बातें हमने सुनी हैं हमारी बुद्धि में हैं हम बोल भी सकते हैं आत्मा इस शरीर से भिन्न है निर्विकार है कि संसार में क्या रखा है दुख से युक्त संसार है कोई अपना नहीं है ये सब बोलते हैं जानते हैं लेकिन फिर भी रहते कहां पर हैं किस ओर भागते हैं उसी तरफ भागते हैं उसी संसार में रहते हैं छल कपट में दुख अनुभव करते हैं बेचैनी अनुभव करते हैं लेकिन फिर भी उसी तरफ जाते हैं क्यों कारण कि ये ऊपर ऊपर हमने डाल रखा है अंदर अभी नहीं पहुंचा है मन के अंतस्थल में अंदर गहराई तक जो चीज पहुंच जाएगी वो हमारे जीवन में आ जाएगी वहां अंदर कैसे डालें कोई सकड़े मुंह की सुराई हो कोई बोतल हो कैन हो जिसमें हमें डालना है कुछ तरल पदार्थ छिद्र छोटा सा है और ट्रैक्टर में या बस में बैठे हैं हम गांव की उबड़ खाबड़ सड़क पर कच्ची सड़क पर वो ट्रैक्टर चल रहा है हम डालेंगे तो कितनी सफलता मिलेगी गिरेगा तो डालेंगे तो सही समय भी लगाएंगे लेकिन वो इधर उधर बिखरता रहेगा थोड़ा बहुत चला गया तो चला गया ये तो स्थूल उदाहरण है जहां थोड़ा बहुत उसमें चला भी जाएगा अंतःकरण में तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा चलती बस में हम पानी पीना चाहते हैं बहुत खड़खड़ हो रही है इधर उधर झूल रही है बोतल से या गिलास से हम ऊपर मुख करके पानी डालना चाहें तो अनेक बार इतनी चंचलता होती है कि हम पी ही नहीं सकते कभी इधर पानी गिरेगा कभी उधर गिरेगा परेशान हो जाएंगे तो लगता है थोड़ा रुक जाएंगे तब पिएंगे अंदर तक संस्कार डालने हैं तो स्थिरता एकाग्रता आवश्यक है हमें क्यों एकाग्रता चाहिए हमें संस्कार डालने संस्कारों के स्तर पर काम करना है मन के स्तर पर काम करना है साधना बाह्य चीज नहीं है साधना आंतरिक चीज है और मन के स्तर की चीज है साधना के लिए जो बाहर के रूप दिखाई देते हैं वो बहुत स्थूल हैं और वो मन के कार्य के लिए है मन को एक स्थिति में लाने के स्थूल उपाय मात्र हैं वास्तविक कार्य अंदर होता है जब हम एकाग्रता बना लेते हैं उसके बाद ये कार्य हमें करना ही होता है आध्यात्मिक व्यक्ति को जिसने विभिन्न ध्यान पद्धतियों से एकाग्रता तो बना ली एकाग्रता आएगी लेकिन उस कार्य को नहीं किया जो करना था तो एकाग्रता मात्र थोड़ी शांति देकर के समाप्त हो जाएगी और कुछ नहीं मिलने वाला है जैसे कोई चित्रकार एकाग्रता तो बना ले लेकिन चित्रकारी ना करे अनुकूलता तो बना ले लेकिन कविता लिखने ना बैठे व्यर्थ है उसका वैदिक ध्यान पद्धति या उपासना पद्धति को जब इस तरह के व्यक्ति देखते हैं जो विभिन्न ध्यान पद्धतियों में जाके आते हैं अथवा यहां भी करते हैं और फिर वहां जाकर के देखते हैं तो कहते हैं कि यहां तो एक के बाद एक एक के बाद एक कुछ विचार करवाया जा रहा है पहले ये मंत्र बोलो फिर ये मंत्र बोलो इस ओम को बोलो ये अर्थ करो ये एकाग्रता कहां हुई ये तो चंचलता हुई ध्यान तो एकाग्रता होती है जिसके मन में केवल एकाग्रता ही ध्यान है उसे ऐसा अवश्य लगेगा किंतु वहां भी जाकर के दूसरी जगह जाके भी वो अधिक प्रगति नहीं कर सकता संसार में जीने लायक बन जाएगा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी तो हमारे लिए ये समझना आवश्यक है कि ध्यान है क्या जिस आध्यात्मिक अभिलाषा से हम ध्यान करने में प्रवृत्त हो रहे हैं हमारा ध्यान हमारी ध्यान पद्धति उस आध्यात्मिक अभिलाषा को पूर्ण कर सकती है या नहीं कर सकती है वो ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच सकती है या नहीं वो समाधि तक पहुंच सकती है या नहीं वो मुक्ति को दे सकती है या नहीं ध्यान को यदि हम एकाग्रता भी समझें जैसा योग दर्शन में भी लिखा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम प्रत्यय की एकतानता ज्ञान की एकतानता एक जैसा बना रहना ये ध्यान है तो एकतानता ये एकाग्रता को बता रहा है लेकिन साथ में प्रत्यय की एकाग्रता है ज्ञान की एकतानता है अनेक बार ध्यान पद्धतियों में चुप रहने को पूरी पूरी तरह मौन होने को ध्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं एकाग्रता है अथवा केवल श्वास पर केंद्रित रखते हैं अथवा शरीर की किसी एक संवेदना पे या जो भी हो उस पर केंद्रित रखते हैं जैसे एक श्वास पे केंद्रित होने को वो एकाग्रता कहते हैं ध्यान कहते हैं यदि हम प्रश्न उठाना चाहें तो उस पर भी कह सकते हैं कि हर बार नया सांस आ रहा है भिन्न भिन्न श्वास है ये एकाग्रता कहा हुई अलग अलग श्वास आ रहा है शरीर की संवेदनाओं को देख रहे हैं तो कभी ये संवेदना कभी वो संवेदना कभी इस अंग में संवेदना कभी इस अंग में संवेदना तो इस संवेदनाओं की भिन्नता हो रही है तो एकाग्रता कहाँ है यदि एकाग्र ध्यान कहाँ है यदि एकाग्रता ही ध्यान है और एक ही जगह टिकने को ध्यान कह रहे हैं तो लेकिन वहां भी एक रूपता है यद्यपि श्वास भिन्न भिन्न आ रहा है लेकिन फिर भी है तो श्वास पर ही केंद्रित भले ही कोई अपने शरीर की संवेदनाओं पर केंद्रित है भिन्न भिन्न संवेदनाएं हो रही हैं संवेदनाओं की तो भिन्नता है लेकिन शरीर तो एक ही बना रखा है शरीर से बाहर तो वो नहीं जा रहा है भले ही भिन्न भिन्न संवेदनाओं को देख रहा है लेकिन है तो संवेदना ही तो उसको भी एकाग्रता कहा जाता है और हम स्वीकार करते हैं तो वो है भी कोई आपत्ति नहीं है उसमें बहुत उच्च स्तर का ध्यान वहां की जो एकाग्रता होती है वो तो बिल्कुल एक ही बिंदु पे होती है किंतु उससे पहले के ध्यान में ये भिन्नताएं होती ही हैं हम जो उपासना में मंत्र बोलते हैं प्रक्रियाएं करते हैं यद्यपि उसमें मंत्र भिन्न भिन्न आते हैं विचार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन फिर भी उस सब का केंद्र बिंदु एक ही होता है परमात्मा के गुणों का स्मरण उससे प्रार्थना और अपने कल्याण की उद्धार की पवित्रता की कामना मुक्ति की कामना ये आध्यात्मिक विषय ही बना रहता है उसमें सांसारिक विषय नहीं आता है इस दृष्टि से उसको भी स्थूलता से एकाग्रता कह सकते हैं अभी मैं उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं जो ध्यान मतलब एकाग्रता कहते हैं उतने अंश में ठीक है मान लीजिए मैं बैठा हूं मेरे में एकाग्रता है या नहीं है मैं आप लोगों को देख रहा हूं कोई कह सकता है कि मैं कभी इनको देखता हूं कभी उनको देखता हूं कभी कोई शब्द बोल रहा हूं अलग अलग शब्द बोलता जा रहा हूं अलग अलग वाक्य बोलता जा रहा हूं तो एकाग्रता कहां है इस दृष्टि से नहीं लेकिन यदि मैं यहां बैठा बैठा कभी उधर देखूं बाहर तभी ध्यान में बोलते बोलते मैं किसी फिल्म के बारे में बोलने लग जाऊं तो आप क्या कहेंगे एकाग्रता या अनेकाग्रता और यदि मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं आप ही की ओर केंद्रित हो तो आप उसको एकाग्रता कह सकते हैं भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं एक दृष्टि से एकाग्रता है इसी प्रकार वैदिक ध्यान पद्धति में वैदिक उपासना पद्धति में यद्यपि तरह तरह के विचार किए जाते हैं लेकिन उन सबका लक्ष्य विषय उद्देश्य एक ही रहता है एकाग्रता का संपादन तो थोड़ी सी ध्यान श्वास पे केंद्रित करने से थोड़ी ध्यान धारणा पे लगाने से भी हो जाता है पर अब जो मन पे संस्कार डालने हैं वो कार्य ध्यान में किया जाता है यदि ये प्रक्रिया कहीं की जा रही है संस्कारों के स्तर पे कार्य करवाया जा रहा है तो वो ध्यान अध्यात्म में ऊंचाइयों तक ले जाएगा व्यक्ति को केवल एकाग्रता तक ला करके जो ध्यान पद्धतियां छोड़ देती हैं वो दूर तक नहीं ले जाएंगी आप उनका उपयोग एकाग्रता संपादन तक के लिए कर सकते हैं कर लीजिए पर सदैव इस बात का भी ध्यान रखना इस एकाग्रता के बाद में अगला कार्य मुझे करना है जो कि वास्तविक आध्यात्मिक कार्य है तो ध्यान क्या है ध्यान एकाग्रता मात्र नहीं है एकाग्रता को प्राप्त करके मन के स्तर पर मन के परिवर्तन का कार्य करना मन में संस्कारों को डालना उसके लिए एक विषय बना करके रखना ये ध्यान है और ये यहां पर आपको उपासना किसे कहते हैं उपासना का वास्तविक अर्थ तो ईश्वर की सन्निधि निकटता है पास में बैठना परमात्मा के एक रूप हो जाना महर्षि दयानंद ने आर्योदेश्वर रत्नमाला में इसी भाव को बताने के लिए शब्दों में कहा भाव ये उनका कि परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाना डूब जाना उसी में बार बार गोते लगाना ये उपासना है परमात्मा का आनंद तो समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में मिलेगा अभी तो हम बहुत प्रारंभिक स्तर पे जी रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं उसे उपासना तो कैसे कह सकते हैं हम स्तुति करते हैं प्रार्थना करते हैं उसको उपासना कैसे कहेंगे ईश्वर के आनंद में तो मग्न नहीं हो रहे हमें जो ध्यान उपासना के समय संध्या के समय जो सुख आता है एकाग्रता होती है वो तो सतोगुण की सुख सत्वगुण की सत्व सत्वगुण का सुख है वो सत्वगुण का आनंद प्रतीत होता है परमात्मा का आनंद नहीं है वो अभी उसके लिए और ऊंची स्थिति चाहिए तो इसे हम उपासना क्यों कहते हैं ये सारी प्रक्रिया परमात्मा के आनंद को पाने के लिए है उसमें सहायक है इसलिए इसे भी उपासना कहा जाता है कह दिया जाता है गौण रूप से जैसे पकाना शब्द अगर मैं बोलूं कि हमारे पाचक पाचिकाएं खाना पका रहे हैं वहां जाकर के देखा तो वो बर्तन माज रहे थे सब्जी काट रहे थे आटा उसन रहे थे इसे पकाना कहेंगे या नहीं कहेंगे ये खाना पका रहे हैं कहते हैं हम सब उसमें पक क्या रहा है पकता तो अग्नि में है पकेगा तो तब जब अग्नि पे चढ़ा दिया जाएगा तवे पे रोटी जाएगी ये जो बर्तन माजे जा रहे हैं दाल साफ की जा रही है सब्जियां कट रही हैं धुल रही हैं इसे पकाना क्यों कहते हैं पकाना तो नहीं लेकिन पकाना हम कहते हैं हमको कोई आपत्ति नहीं होती है उसमें उसे पकाना इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पकाने के लिए तैयारी की जा रही है इसी प्रकार से यहां जो आपको करवाया जाता है या आप आगे करेंगे आप जो करते रहे हैं उसको भी उपासना इसीलिए कहा जाता है कि ये परमात्मा के आनंद में मग्न होने के लिए तैयारी है उस ओर बढ़ने का रास्ता है उसके लिए प्रक्रिया चल रही है यदि कोई इसको भी ये कहे कि ये तो उपासना कहां हुई तात्विक दृष्टि से नहीं है लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है जैसे पकाने को कोई कहे आलोचना करे कि ये तो ककड़ी काट रहे हैं ये पका का रहे हैं ये कोई आलोचना नहीं होती है वो पकाना ही है गौण रूप से पकाना है तो उपासना क्या है जो हम करते हैं वो परमात्मा की ओर बढ़ने का परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने का रास्ता है इसी प्रक्रिया से हम वहां तक पहुंचेंगे और वो प्रक्रिया क्या हो सकती है उसमें किन किन तत्वों की आवश्यकता है वो महर्षि दयानंद ने वैदिक संध्या में बहुत अच्छी तरह से समायोजित किया है कुंफित किया है एक साधक को किन चीजों की आवश्यकता है किन बातों पे उसे ध्यान देना चाहिए वो सब वैदिक संध्या में उन्होंने दिया है लक्ष्य का स्मरण हो प्रथम मंत्र में फिर इंद्रियों की बलवत्ता की कामना की जा रही है कोई कह सकता है कि आप बैठे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए थे उसकी कामना लेके ये इंद्रियों की बलवत्ता तो भौतिकवादियों का काम है सांसारिक लोगों का काम है जो इनकी बलवत्ता चाहते हैं या उपासना में बैठ के ये क्यों कर रहे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन इंद्रियों का सबल होना स्वस्थ होना मुक्ति के लिए आवश्यक है परमात्मा ने ये इंद्रियां बनाई ही इसलिए हैं कि इनकी सहायता से हम सरलता से मुक्ति को पा सकें ये सांसारिक प्रयोग तो इसके गौण प्रयोग हैं परमात्मा ने भोग और अपवर्ग के लिए इस सृष्टि को बनाया है भोगापवर्गार्थम दृश्यम भोग भी किस लिए इसको दो तरह से भी देख सकते हैं क्योंकि संसार में कुछ लोग भोग की तरफ जाते हैं कोई अपवर्ग मुक्ति की तरफ जाते हैं ये भोग भी मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए है जितना हम व्यवहार करते हैं उन इंद्रियों के उपयोग से ऐसी सामर्थ्य बने कि हम साधना कर सकें और यदि संसार के प्रति हमारी कामना इच्छा अभी बाकी है संसार को अभी हम समझ नहीं पाए हैं उसमें सुख दिखाई दे रहा है तो इन इंद्रियों के माध्यम से उसका परीक्षण कर लें और परीक्षण करते हुए अनुभव लेते चलें कि ये संसार कितना सुखदायी है और कितना दुखदायी है भोगों को भोग करके हमारे कर्म क्षीण हो जाएंगे जो कर्म हमारे साधना में बाधक बनते हैं उन कर्मों को भोग करके पाप कर्मों को भोग करके हम हल्के हो जाते हैं दंड भोग करके जब हम निकलते हैं तो हल्के हो जाते हैं ये भोग भी अपवर्ग के लिए है ये इंद्रियां भी वस्तुतः अपवर्ग मुक्ति के लिए हैं इनकी बलवत्ता की कामना लौकिक या भौतिक कामना नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हाँ जो आजकल बहुत सी ध्यान पद्धतियां भौतिकवादियों की दृष्टि से चलाई हुई हैं सांसारिक लोगों की दृष्टि से वो ध्यान पद्धतियां विकसित की गई हैं जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है उनके लिए वो ध्यान पद्धतियां योगाभ्यास इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने के लिए और उससे फिर वो क्या करेंगे और अधिक भोग करेंगे और अधिक भोगों के संस्कार डालेंगे ऐसी इंद्रियों की बलवत्ता मुक्ति नहीं दिला सकती इसका ये मतलब नहीं है कि इंद्रियों की बलवत्ता भोगों की तरफ ही ले जाने वाली है पर हमारे लिए अनावश्यक है मुक्ति के लिए भी आवश्यक है ये एक उदाहरण मैंने दिया आपको अभी संध्या के मंत्र आपके सामने धीरे धीरे आते जाएंगे वो सब चीजें हमारे लिए आवश्यक है मनसा परिक्रमा मंत्र में द्वेष की बात आती है ध्यान साधना कर रहे हैं और द्वेष की चर्चा कर रहे हैं योस्मान द्वेष्टि यम च वयम क्या आवश्यकता है ध्यान करने चले थे परमात्मा का और मनसा परिक्रमा में चारों दिशाओं छो दिशाओं में मन को घुमा रहे हैं जो ध्यान को समझते नहीं है वो एकदम आक्षेप कर देते हैं ये तो मनसा परिक्रमा नाम ही लिखा हुआ है परिक्रमा कर रहे हैं आप क्या ध्यान कर रहे हैं ध्यान तो एकाग्रता होता है वो इतना ही समझते हैं बस मन में किन के प्रति कृतज्ञता की भावना हो किसके प्रति कैसा भाव हो वो सारा संध्या के मंत्रों में दिया हुआ है तो वैदिक ध्यान पद्धति ये वैदिक संध्या वैदिक ध्यान पद्धति है हम अपनी थोड़ी रुचि या अवस्था के अनुसार परिवर्तन करते हैं लेकिन ये एक बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये नहीं बनाया है व्यक्ति ने इसको बनाया है अनुभवी व्यक्ति ने बनाया है और सारी ऋषि परंपरा को जो जानता था जिसने स्वयं साक्षात्कार किया था जिसके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है अब जब हम ध्यान करते हैं वैदिक संध्या करते हैं तो एक प्रश्न खड़ा होता है प्रारंभ में मंत्रों का उच्चारण चूंकि मंत्र दिखाई देते हैं बड़ा कठिन लगता है मंत्रों को याद करो फिर भी बच्चा करता रहता है थोड़े दिन में रुचि हट जाती है जैसे तैसे करता है तो दूसरा उपाय बताया जाता है भाई अर्थ सहित करो बिना अर्थ के तो अरुचि होनी है मंत्र बोलते हैं तो वो अर्थ फिर उसको बता देते हैं वो अर्थ भी मंत्रवत ही हो जाता है भू प्राणों का भी प्राण हुआ सब दुखों से छुड़ाने हारा स्व स्वन सुख स्वरूप वो भी उसका यंत्रवत अर्थ चलता चला जाता है थोड़े दिन अच्छा लगेगा वो भी थोड़े दिन मन लगेगा उसके बाद में वहां भी वही समस्या आने लग जाती है क्यों संध्या का मतलब यदि केवल मंत्र पाठ हो तो वो भी वैसे ही व्यर्थ जैसा है जैसे अन्य ध्यान पद्धतियों के बारे में बोल रहा था एक स्तर तक उपयोगिता है बिल्कुल व्यर्थ मेरा अभिप्राय नहीं है लेकिन दूर तक अंत तक नहीं ले जाएगा वो मंत्रों का अर्थ भी करते हुए अगर वैसा का वैसा बोलते चले जा रहे हैं वो भी अधिक दूर तक नहीं ले जाएगा ध्यान का प्रयोजन उद्देश्य क्या है जो छोटी सी बात आपके सामने मैंने पहले रखी थी वो यदि किसी के मन में है ज्ञान है तब तो वो इसको ठीक ढंग से कर लेगा केवल मंत्र बोलने से और अर्थ बोलने से क्या मन पे संस्कार पड़ जाएंगे कितने संध्या करने वाले आपको मिल जाएंगे ध्यान करने वाले मिल जाएंगे ये सब करते हुए भी जीवन देखो तो अच्छा नहीं कह सकते एक साधक का ध्यानी का जीवन नहीं कहा जा सकता उद्देश्य है हमारे मन पे संस्कार डालना मंत्र बोल करके परमात्मा की स्तुति करना ये परमात्मा के लिए नहीं है परमात्मा को स्तुति की क्या आवश्यकता है लेकिन बहुत स्तुति के मंत्र वेद में परमात्मा ने दिए हैं कई लोग इसलिए भी आक्षेप करते हैं कि परमात्मा अपनी प्रशंसा करवाता रहता है स्तुति करवाता रहता है ये तो खुशामदी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होता है लौकिक व्यक्ति उसकी तरह से हो गया है और आप भी उसकी प्रशंसा किए जाते हैं चाटुकार की तरह चमचे की तरह जिनको आलोचना करनी है वो किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्या ये स्तुतियां परमात्मा की प्रशंसा के लिए हैं केवल परमात्मा के लिए हैं ये ये परमात्मा के लिए नहीं है न परमात्मा को इसकी आवश्यकता है ये स्तुतियां हमारे लिए हैं जिसकी स्तुति हम करते हैं जिसके गुणों को देखते हैं उसे पाना चाहते हैं अभी हम संसार को चाहते हैं क्योंकि संसार के सुखों को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं इसलिए उसी की चाह बनी रहती है अध्यात्म में परमात्मा को हम चाहते हैं तो परमात्मा की चाह कैसे बनेगी उसके गुणों को बार बार बोल करके समझ करके यही तो स्तुति है एक तरफ संसार के लाभ हमारे मन में बैठे हुए हैं सुख बैठे हुए हैं दूसरी तरफ हमें अपने मन को परमात्मा की तरफ ले जाना है तो परमात्मा के गुणों को लाभों को महत्ता को जब तक बार बार मन में बैठा करके सांसारिक आकर्षण और सुखों से ऊपर नहीं कर देंगे तब तक इधर अधिक बढ़ ही नहीं पाएंगे जितनी स्तुति है वो हमारे अपने लिए है और केवल परमात्मा ऐसा है ऐसा है उससे तो हमको लाभ नहीं मिलता है परमात्मा ऐसा है और मैं उसको पाना चाहता हूं क्यों पाना चाहता हूं परमात्मा निर्विकार है और मैं भी परमात्मा को चाहता हूं मैं भी निर्विकार बनना चाहता हूं क्यों निर्विकारता से क्या होगा जब तक वो साधक परमात्मा की निर्विकारता को मन में ला करके और निर्विकारता का कुछ अनुभव नहीं करता है तब तक उसके द्वारा परमात्मा को निर्विकार कहते रहने से भी स्तुति का जो प्रभाव अपने पे आना चाहिए वो नहीं आएगा निर्विकार स्थिति को बना के देखना होगा उसमें जो संतोष शांति स्थिरता धैर्य अच्छी अनुभूति होती है उसको अनुभव करना होगा उसकी ललक पैदा करनी होगी और जो साधक उपासना को अपने साथ में जोड़ करके रखते हैं स्तुति वैसा बनने का प्रयास और फिर उसके लिए प्रार्थना महर्षि दयानंद ने प्रार्थना की परिभाषा ही प्रक्रिया ही यही अपनाई है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में सहायता की कामना करना अब हम संध्या के मंत्रों में प्रार्थना किए जा रहे हैं प्रार्थना किए जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए कुछ नहीं होगा उससे नगण्य प्रार्थना जो निकलनी चाहिए वो निकलेगी ही नहीं जो प्रार्थना की गहराई होनी चाहिए वो निकलेगी ही नहीं क्योंकि हमें उसका महत्व ही नहीं पता है उस गुण का महत्व ही नहीं पता है उस गुण का महत्व करने से पता लगेगा फिर उसको प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्न कर रहे हैं और पूरा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है एक तड़प अंदर पैदा होगी मैंने किया है पुरुषार्थ और अभी भी मिल नहीं रहा है और मुझे सहायता चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूं तब जो प्रार्थना निकलेगी वो प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना कहलाती है और ऐसी प्रार्थना परमात्मा पूर्ण करता है थाली में रोटी रखी है बच्चा रोटी को खा नहीं रहा है आधी इधर फेंक रहा है आधी उधर फेंक रहा है सब्जी और दाल भी पड़े हैं मां से कहता है कि मेरे को एक रोटी और दो और चाहिए रोटी और चाहिए चटनी मां पूर्ण कृपालु होते हुए भी उस बच्चे के प्रति हित की कामना रखते हुए भी और देने में समर्थ होते हुए भी नहीं देगी दे ही नहीं सकती उसको पता है कि उपयोग ही नहीं कर रहा है जितना मैंने इसको दिया है वो ही नहीं खा पा रहा है तो और मैं क्या दूं ये भले ही मांगता रहे उसकी प्रार्थनाएं माँ से भी व्यर्थ होती है इसमें माँ का दोष नहीं है बच्चे का दोष है पुरुषार्थी व्यक्ति परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधनों का पूरा उपयोग कर रहा होता है अधिक से अधिक जिस बच्चे ने रोटी खा ली भी है उसको पता है कि और चाहिए मांग के तो देखो माँ तुरंत देगी रोटी खत्म होने से पहले दे देगी माँ उसे पता है बच्चा खा रहा है चबा के खा रहा है मेहनत भी कर रहा है इसको आवश्यकता है हमें अपनी जितनी आवश्यकता का पता है हमारे से अधिक हमारी आवश्यकता का पता परमात्मा को है जैसे बच्चे की आवश्यकता का पता माँ को अधिक होता है बच्चे को क्या पता है बच्चा तो थोड़ा सा जानता है पुरुषार्थ पूर्वक जब प्रार्थना की जाएगी तो परमात्मा की वो अतिरिक्त सहायता भी हमारे को मिलेगी नहीं तो ये प्रार्थना भी व्यर्थ है इसलिए ये जो उपासना पद्धति है वैदिक पद्धति इसमें प्रार्थना स्तुति ये सब चीजें व्यवहार के साथ में जुड़ करके चलती हैं अभी का समय समाप्त हो चुका है इसका जो और विषय है मैं आगे कल आपके सामने रखूंगा आज भी मैं कुछ उपयोग का प्रयोग आपको करवाना चाहता था आगे करवाऊंगा पर ध्यान को समझना उपासना को समझना वैदिक संध्या वैदिक ध्यान पद्धति क्या है बातें छोटी सी हैं अगर आपने एक बार समझ ली तो पूरा आपका आध्यात्मिक जीवन पूरी यात्रा बहुत सरल हो जाएगी और बिना उलझे आप चलते चले जाएंगे यदि ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको बताई जा रही हैं आपने नहीं समझी तो आप सब कुछ करते हुए भी उलझते उलझते चलेंगे थोड़ी सफलता मिलेगी फिर गिरेंगे फिर कुछ ये होगा उलझते उलझते से रह जाएंगे कुछ समझ नहीं बनेगा कि क्या करूं परमात्मा का स्मरण करें प्रार्थना करें मेरा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो अपनी आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए दृष्टि को नीचे रखते हुए थोड़ी देर निवृत्त हो लें भ्रमण कर लें पौने ग्यारह से थोड़ा पहले आके बैठ जाए अगली